मैं समझ गया विक्रांत अब जाकर समझा उसने ब्यूरो चीफ संजय की तरफ देखते हुए कहा अच्छा तो जब लास्ट टाइम आपने मेरी हेल्प की थी तो आपने ये सब डीसीपी डिसूजा सर के कहने पर किया था ये सुनकर सिटी चीफ साहब के चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कान ने ले ली थी अच्छा अच्छा एक मिनट अचानक से विक्रांत को कुछ याद आ गया उसने तुरंत ही सिटी चीफ साहब की तरफ देखते हुए कहा सर एक बात तो मैं कहना भूल ही गया मुझे तो उस कमीना ब्यूरो चीफ ने सस्पेंड कर रखा है मैं तो अभी ऑफिस ही नहीं जा पा रहा हूँ सर प्लीज आप कुछ कीजिए ना आप एक बार कह देंगे तो फिर मैं फिर से बहाल हो जाऊंगा और तभी तो मैं डिसीजर सर का काम कर पाऊंगा विक्रांत की बात सुनकर सिटी चीफ साहब को गुस्सा आ गया वो अब विक्रांत की बेवकूफियों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं लग रहे थे उन्होंने विक्रांत को फटकारते हुए कहा विक्रांत तुम एकदम बेवकूफ हो क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म है ऐसे बात करते हो अपने सीनियर्स के साथ क्या क्या क्या मतलब विक्रांत कंफ्यूज हो गया तुम्हें किसने सस्पेंड किया है सिटी चीफ साहब ने पूछा उस कमीने मेरा मतलब ब्यूरो चीफ अमृतसर ने विक्रांत ने किसी तरह से अपनी जुबान संभालते हुए कहा अच्छा तो कागज दिखाओ सस्पेंशन लेटर कहाँ है सस्पेंशन लेटर वो वो तो नहीं है मेरे पास जरूरी है क्या विक्रांत ने जवाब दिया जब तुम्हारे पास सस्पेंशन लेटर नहीं है तो फिर कैसे सस्पेंड हुए तुम संजय सर ने विक्रांत से सवाल किया मतलब फिर विक्रांत अभी भी काफी कंफ्यूज था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अरे अमृत ने सिर्फ तुम्हें मुंह से कहा है ना सस्पेंड करने के लिए कोई लिखित पेपर तो दिया नहीं फिर तुम कैसे सस्पेंड हो गए वो बस तुम्हें डरा रहा था ताकि तुम आगे से कोई गलती ना करो और तुमने क्या किया था मैंने सुना था कि तुमने उसके साथ ऑफिस में जाकर बदतमीजी भी की थी अब विक्रांत के पास कोई जवाब नहीं था उसने धीमी आवाज में कहा हाँ वो जब उन्होंने मुझे फालतू में ही सस्पेंड करने के लिए कहा तो मुझे मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था मेरी कोई गलती नहीं थी फिर भी वो मुझे सुनो विक्रांत अगर तुम्हारे खिलाफ सच में कोई एक्शन लेना होता तो तुम अभी जेल में बैठे होते समझे वो बस तुम्हें डरा रहा था ताकि तुम आगे जाकर दोबारा कोई गलती ना करो हर चीज के पीछे एक कारण होता है अभी डीसीपी डिसूजा सर जब बार बार अपने जूते उतार रहे थे तो उसका भी तो एक रीजन था ना सिटी चीफ साहब ने विक्रांत को समझाते हुए कहा क्या कैसे रीजन अभी भी विक्रांत को सिटी चीफ साहब की सारी बातें क्लियरली समझ में नहीं आ रही थी देखो विक्रांत जिस कुर्सी पर अमृत बैठा हुआ है उसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है सब कुछ देख समझ कर चलना पड़ता है तुमने तो उस दिन खालिद सिद्दीकी को पीट दिया था लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो कितना बड़ा आदमी है उसकी पकड़ कहाँ तक है उसने तुरंत ही कंप्लेंट कर दी थी कि उसके साथ पुलिस ने गुंडागर्दी की है अब अगर अमृत ने तुरंत तुम्हारे खिलाफ ऐसा एक्शन ना लिया होता तो तुम्हें ना सिर्फ अपनी नौकरी गंवानी पड़ती बल्कि अभी तुम्हें जेल में भी जाना पड़ जाता एक प्रकार से अमृत ने तुम्हें फटकार कर तुम्हारी मदद ही की है वो जानता है कि तुम एक अच्छे ऑफिसर हो और वो हमेशा तुम्हारा सपोर्ट भी करता है इस बार भी वो तुम्हारी मदद ही कर रहा था लेकिन तुम तुमने उसके साथ ही बदतमीजी की और अब भी उसे गालियां दे रहे हो सिटी चीफ साहब ने थोड़े सख्त लहजे में कहा लेकिन खालिद ने जानबूझकर साजिद को छुपाया हुआ था एक मुजरिम को छुपाना भी तो जुर्म ही होता है ना विक्रांत ने कहा उसने अपने बयान में कहा है कि उसने सिर्फ साजिद को छुपने के लिए जगह दी थी उसे ये नहीं पता था कि साजिद मंजू का मर्डर करके भागा है उसने बताया कि साजिद ने बस उसे छुपने के लिए जगह मांगी थी सो दोस्त होने के नाते बस उसने साजिद की मदद कर दी थी अच्छा और और और उसके चौल पर स्मगलर्स थे वो वो तो खालिद के लिए ही काम करते थे ना वो भी तो एक जुर्म ही है ना उसमें तो चार्जशीट बनेगी विक्रांत ने जवाब दिया उसके एक आदमी ने आगे आकर सारा इल्जाम खुद के ऊपर ले लिया है उसने साफ कह दिया कि वो सारे स्मगलिंग वाले धंधे उसके हैं उनका खालिद से कोई लेना देना नहीं है तुमको बताया ना मैंने उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है तुम्हें उससे नहीं भिड़ना था सिटी चीफ साहब ने विक्रांत को समझाते हुए कहा अच्छा मैं बताता हूँ अब उसे देखता हूँ साले का नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है एक झटके में सब कुछ कबूल ना कर लिया तो मेरा नाम भी विक्रांत नहीं विक्रांत नहीं तुम तुम क्या करने जा रहे तुम बस चुपचाप से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो तुम्हें सस्पेंड नहीं किया गया है समझे बस तुम अपने काम में ध्यान दो फालतू के चक्रों में मत पड़ो अरे सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैं मैं सब ठीक कर दूंगा इतना कहते हुए विक्रांत उस पीली डायरी के साथ ही अंदर मंजू के घर में चला गया वहाँ जाकर वो जल्दी से मंजू के पति आशुतोष से मिलने के लिए गया आशुतोष को कुछ देर तक सांत्वना देकर वो वहां से बाहर निकल आया जब बाहर आया तो देखा कि अभी भी सड़क पर डीसीपी डिसूजा सर की काली वैन खड़ी ही है विक्रांत जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ रोड पार करके वैन के पास पहुंचा फिर वैन के शीशे से भीतर डिसूजा सर की तरफ देखते हुए बोला अच्छा सर मैं चलता हूँ मुझे आपकी अमानत मिल गई है और और मैं आपका काम पूरा करके रहूंगा ये कहते कहते विक्रांत थोड़ा इमोशनल भी हो गया डिसूजा सर की हालत देखकर वो भी काफी भावुक हो रहा था उसे याद है जब वो शुरू शुरू में ऑफिस आया था जब उसने पुष्कर के ऊपर कॉफी से भरा मग फेंक दिया था तब डिसूजा सर ने ही विक्रांत को सपोर्ट किया था उस वक्त वो शरीर से बिल्कुल ठीक थे लेकिन अब तो बहुत कमजोर हो चुके हैं शरीर में मानो जान ही नहीं बची हो ऐसा लगता है की उनके लिए दो चार दिन बिताना भी बहुत मुश्किल है विक्रांत ज्यादा देर तक डिसूजा सर को नहीं देख सका वो तुरंत ही वहाँ से निकल ऑफिस की तरफ चल पड़ा इस वक्त विक्रांत काफी भावुक हो रहा था पहले मंजू मैडम और अब डिसूजा सर इन दोनों का ख्याल विक्रांत को काफी इमोशनल कर रहा था हालांकि इन दोनों के साथ विक्रांत बहुत क्लोज नहीं था लेकिन फिर भी ये दोनों ही उसके ऑफिस के काफी इम्पोर्टेंट लोग थे और कहीं न कहीं ये लोग काम के मामले में भी विक्रांत जैसे ही थे इस वजह से भी विक्रांत इनसे खुद को काफी अटैच फील करता था इस वक्त विक्रांत पैदल ही रास्ते पर चल रहा था उसने मन ही मन खुद से निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मंजू मैडम और डिसूजा सर की आखिरी इच्छा को पूरा करके ही रहूंगा इन दोनों के मैं सारे केस सॉल्व करके रहूंगा इस विचार के साथ विक्रांत खुद को काफी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था उसने रास्ते में चलते खुद के लिए कैब बुलाने के बजाय पहले टीम बी के ऑफिसर देव सिंह को फोन किया हेलो देव तुम कहाँ हो अब फ्री हो तो तुरंत मिलो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है और अपने दोस्तों को भी ले आना आज फिर से कुछ धमाल मचाना है